भद्रम कर्णे भद्रम् पश्येमाक्षभिरता स्थिरैरङ्गे का वैतक्ष प्रकरण के चतुर्थ कारिका के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ है कि वैतथ्य प्रकरण का तात्पर्य है स्वप्न को मिथ्या देखकर जागृत को भी मिथ्या सिद्ध करना है युक्ति ये दृष्टांत स्वप्न है इसका ये दिखाना चाह रहे हैं इसलिए प्रथम कारिका में कहा वैतथ्यम सर्वभावान स्वप्न आहुर मनीषण अंतस्थान भावान समृद्ध कि जितने तो भी स्वप्न के पदार्थ हैं झूठे हैं असत्य हैं क्यों भीतर है नाड़ी के भीतर स्थान में है और संकुचित स्थान में है और जो पदार्थ देखे जाते हैं बहुत बड़े बड़े पर्वत आदि सागर आदि का दर्शन होता है होता है हिता नाम के नाड़ी के भीतर मन वहां रहता है वही मन है इसलिए वो असत मिथ्या है न होते हुए भाषण है यही समझना दूसरा भी दिया कोई बोले कि नहीं कोई स्वप्न दृष्टा वहीं जाकर के देखेगा जहां पर्वता गया वहीं जाकर देख के वापस आएगा कहते नहीं अधिर्गत से अधिर्गत से कालस्य गत्वाद ऐसा वहां जाकर के देखना संभव नहीं है और दूसरी बात यदि गया हुआ होता प्रतिबुद्ध से वही सर्व तस्मिन देशे नहीं जब जगता है व्यक्ति तो उस देश में नहीं पाता अपने को जहां स्वप्न देख रहा है वो तो वहां पाता है जहां सोया था जिसके मतलब बाहर गया नहीं है और यहां अंत स्थान है संपृत वो भी संप्रति स्थान है इतने बड़े बड़े सागर आदि का होना वास्तविक होना पर्वत आदि का होना संभव नहीं है इसलिए कल्पना है सदैव अपराध ये दोनों हेतुओं के पुष्टि के लिए स्मृति में भी कहा अभाव सरथादि नाम स्मृति न्यायपूर्वक युक्ति में मांडू को बृहदारण्यपनिषद में कहा है न तत्तरथा न रथ योगा न पंथानो भवंती उस अवस्था में स्वप्न अवस्था में वहां न ये घोड़े हैं न घोड़े खींचने वाली गाड़ी है न वहां पर ये है घोड़े के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी भी नहीं घोड़े भी नहीं न मार्ग है सबको बनाता है स्वप्न दृष्टा सबको बनाता है ऐसा कहा ये तृतीय में कहा था वही तथ्यम तेन वे प्राप्त इसलिए ये स्वप्न अवस्था में झूठे ही दर्शन होता है प्राप्त हो गया युक्ति से और श्रुति से निषिद्ध होगा अब जब स्वप्न दृष्टांत सही हो गया झूठे हैं अब ये चतुर्थ कारिका में जागृत के विषयों को झूठा सिद्ध करने के लिए स्वप्न का दृष्टांत देकर के तैयार किया गया एक कहा चतुर्थ कारिका अंतस्थानात्मक भेदानाम तस्मा जागृत स्मृतम यथा तत्र तथा स्वप्न संप्रतत्व देखो अनुमान दो प्रकार का अनुमान होता है एक स्वार्थानुमान एक परार्थानुमान अपने लिए समझना हो यदि व्याप्ति ज्ञान है और पक्ष धर्म का दिखाई पड़े तो अनुभूति हो जाती है पक्ष में हेतु दिखाई दे रहा है और व्याप्ति ज्ञान है जहां हेतु होता है वहां साध्य होता है ऐसे व्याप्ति ज्ञान हो जिसको तो पक्ष में जब हेतु दिखाई पड़े तो उसको वहां अनुभूति हो जाती है ये स्थिति हो जाती है माना तीन काम हो जाता है तीन अवैध से काम चलता है किंतु दूसरे व्यक्ति को समझाना हो तो पांच टुकड़े में जाना पड़ता है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन सामने वाले को परार्थानुमान में पांच पंचावे वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है जैसे कोई दूसरे को समझाने के लिए बोलता हो पर्वतों धन्यवाद ऐसा बोलेगा दिख रहा धुआं अग्नि नहीं दिख रही है दिन में किंतु पहाड़ अग्नि वाला है कहा दूसरे को समझ बात नहीं आती बोलता क्यों कहेगा अकस्मात तो कहेगा धुमात धुआं होने से ऐसा करना पड़ेगा वो कहेगा धुआं होने से अग्नि होती है क्या बोला हाँ कहा चूल्हे में देखा आया था तो दृष्टांत में जाना पड़ेगा प्रतिज्ञा हेतु दूसरे धुमात तो हेतु वाक्य है दृष्टांत महानस आदि चूल्हे आदि का दृष्टांत देते हैं जैसे वहां धुआं है तो अग्नि भी है अब फिर यह पक्ष में आ जाएंगे पहले केवल हेतु का ज्ञान था पक्ष में अब की बार साध्य ही हेतु का ज्ञान कराएंगे उसको उपनय वाक्य बोलते हैं तथा अयम जैसा मानस है वैसे ही पर्वत है मानस कैसा है अग्नि ही धूम वाला ये तो सामने वाले को ज्ञान है तो ये भी वैसा ही है जब अग्नि ही धूम वाला होगा तो निगम वाक्य आ जाएगा तस्मात तथा तस्मात पर्वतों बनेगा तस्मात बन्य व्याप्त धूमवत्वा तथा पर्वतो बनी ऐसा ज्ञान होता है दूसरा भी समझ जाता है ठीक इसी प्रकार यहाँ परार्थानुमान के रूप से ये कार्यक्रम कहा गया है यथा तत्र तथा जागृते ऐसा दो अवयव यहाँ हैं तीन अवयव तो पहले हो चुका है जागृत भावा मिथ्या ये प्रतिज्ञा वाक्य होगा जागृत के पदार्थ जितने में से झूठे हैं ये प्रतिज्ञा है हेतु कहेंगे क्या दृश्यत्वाद माने इंद्रियों का विषय होता है यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र तत्र मिथ्यात्व की व्याप्ति बनती है कहाँ देखा यथा स्वप्ने जैसे स्वप्न में दृश्यत्व हेतु है और मिथ्यात्व भी सिद्ध हो चुका है तीन अवय हो चुका चौथा और पांचवा अवय यहां देते हैं यथा तत्र तत्र मन स्वप्न यथा जैसे स्वप्न में है वहां दृश्यत्व हेतु भी है और मिथ्यात्व साध्य भी है मिथ्यात्व व्याप्त दृश्यत्व वाला है स्वप्न मिथ्यात्व के द्वारा व्याप्त दृश्यत्वान दृश्यत्वान है तथा जागृत वहां ले जा उसी प्रकार जागृत में भी है जागृत अवस्था में वैसे तथा जागृत जागृत में भी इसी प्रकार है माने मिथ्यात्व व्याप्त दृश्यत्व वाला हो जाता ये उपनय वाक्य तस्मात तथा तस्मात आ जाएगा तस्मात करते तथा हो जाएगा जब मिथ्यात्व व्यक्त दृश्यत्व वाला है तो ये भी मिथ्यात्व है मिथ्या है जागृति मिथ्या है तो भी ज्ञान होगा ये निर्गुण वाक्य होगा किंतु भेद थोड़ा सा है दोनों में अंतस्थानात्व भेदान समृद्धत्व हेतु ना भिद्य थे समृद्धत्व भिद्य थे वो जो स्वप्न के विषय जागरण के विषय में थोड़ा सा भेद है मिथ्यात्व में भेद नहीं है दृश्यत्व मिथ्यात्व बराबर है वो भी इंद्रियों का विषय होता है झूठे हैं तो ये भी इंद्रियों का विषय होता है झूठा है किंतु भेद क्या है वह नाड़ी के भीतर दिखाई पड़ता है भीतर है वो और जागृत के विषय बाहर है इतने भेद है यही कहा अंतस्थान तो भेदान स्वाप्निक जो भेद है ना इनमें क्या है समृतत्व भिन्नते समृद्ध होने समृति स्थान में होने से भिन्न लगता है ये तो भीतर है भीतर दिखाई पड़ता है और ये बाहर दिखाई पड़ता है इतना भेद है बाकी कल्पना बराबर है ये भी मिथ्या ही है अगर ये सत्य हो देखो वेदांत जो होता है ना ये दृष्टि सृष्टिवाद को लेकर के चलता है ध्यान देना है सृष्टि दृष्टिवाद वाला पुराण आदि होते हैं वेदांत में दृष्टि सृष्टिवाद पहले दृष्टि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि कोई एक व्यक्ति सामने है उसको अनेक प्रकार के संबंध करने वाले अनेक लोग होते हैं एक व्यक्ति होगा सामने कोई उसको पिताजी बोलता है कोई बेटा बोल रहा है कोई जवाई कह रहा है जावाता कहता है कोई पौत्र बोलकर पौत्र बोलने वाले भी हैं उसके भी दादा होंगे हाँ। कोई पति कहने वाला होंगे कोई भाई कहने वाले होंगे व्यक्ति एक ही है अगर सृष्टि दृष्टि बात को लेंगे तो व्यक्ति तो एक ही सृष्टि हुआ है सबकी दृष्टि में एक ही होना चाहिए किंतु तो भिन्न भिन्न दृष्टि से जाते हैं भिन्न भिन्न रूप से व्यवहार होता है उसके साथ जैसे जैसे रिश्ता बनाते हैं उसी प्रकार का व्यवहार हो रहा है इसके मतलब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दृष्टि सृष्टि बना रज्जु में सर्प दिखाई दिया तो रज्जु सर्प रूप में दिखने लगे जब रज्जु रूप से देखेंगे तो रज्जु रूप में दिखेंगे दृष्टि सृष्टिवाद जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि ये सृष्टि दृष्टिवाद नहीं वेदांत दृष्टि सृष्टिवाद इस तरह से चलता है तो इसका भाष्य हो गया था टिप्पणियां चल रही थी भाष्य की तो भाष्य में कहा था जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यम विधि प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा वाक्य नहीं है कालिका में ध्यान देना हेतु वाक्य भी नहीं है हेतु प्रतिज्ञा पहले स्वप्न अवस्था में दिखा चुके हैं दृष्टांत भी हो चुका है हाँ। ये तो भाष्यकार ऊपर से जोड़ रहे हैं प्रतिज्ञा वाक्य आदि इस कारिका में नहीं है जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यम इसी प्रतिज्ञा जागृत दृश्य जो पदार्थ है ये विकथा है ये असत है मिथ्या है ये प्रतिज्ञा वाक्य है जागृत भावा मिथ्या ऐसा होगा वैतथ्यम एक नंबर की टिप्पणी तो यहां पर ये पंचावय वाक्य टिप्पणी का दिखाना चाहते हैं कैसे उसको झूठा सिद्ध करना है क्या क्या बोलना पड़ेगा वहां समझाने के लिए टिप्पणी तो का सिद्ध करते हैं जागृत भावा पिता जागृत भावा यह है पक्ष और पितथा यह है साध्य माने जागृत भावा पितथा जैसे पर्वतों वर्ण्यमान ये प्रतिज्ञा वाक्य है वैसे जागृत भावा पितथा ये प्रतिज्ञा वाक्य है वैतथ्य साध्य होगा दृश्यवाद ये हेतु वाक्य है पंजाब में दूसरा अवयव दृश्यवाद इंद्रियों का विषय होता है दृश्य माने केवल आंख का ही विषय नहीं इंद्रियों का विषय होने से ये ये दृश्य ते थे तथा ये दृष्टांत के लिए जा रहे हैं जो जो दृश्य होता है वह वो झूठे होते हैं कैसे यथा स्वप्न स्वप्न भाव ये दृष्टांत स्थल है जैसे स्वप्न के पदार्थ हैं दृश्य है मिथ्या भी है ये दृष्टांत वाक्य है पंजाब तीसरा वाक्य हो गया और चौथा वाक्य ये जो यथा तत्र तथा जागृत है ना तथा इत्यादि कहना है तथा च इमे उसी प्रकार ये भी है ये उपनय वाक्य होगा जैसे स्वप्न में है वैसे ये पदार्थ भी वैसे ही है कैसे वहां पर मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्व वाले हैं पदार्थ जितने भी हैं साध्य हेतुमान पक्ष यही ये लिंग परामर्श ज्ञान बोलते हैं उपनय उपनय ज्ञान बोलते हैं उसको लिंग परामर्श तृतीय लिंग परामर्श बोलते हैं यही है साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष ऐसा ज्ञान मिथ्यात्व व्याप्य दृष्टित्वान जागृत भाव ऐसा ज्ञान हो जाए तदा देवे ये पदार्थ वैसे ही है मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्वंत एक तस्मात तथा अभी निगम वाक्य आ गया है तस्मात माने तस्मात इत्यस्य मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्व ये तस्मात का मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्व होने से जागृत के पदार्थों में मिथ्यात्व व्याप्त दृश्यत्व है तो तथा तथा माने वैतथ्यम मिथ्या ये सिद्ध तो होगा तथा इतने जब वैतथ्य बनता ये वैतथ्य वाले हैं ये भी असत है सब इति अनुमान अप्रबोध्यम इसमें इस प्रकार का अनुमान समझना चाहिए इस कार्य का अनुमान ऐसा समझना चाहिए क्योंकि कारिका में मतलब तो दो अवय भी दिखाई पड़ रहा है यथा तत्र तथा जागृत दो ही अवयव दिख रहा है किंतु तीन अवयव पहले हो चुका है समझ करके टिप्पणी कार ने कहा टिप्पणी आगे बोलते हैं अनैन दृश्यत्व से वैतथ्य व्याप्यत्व उत्तम होती इस तरीके से क्या होगा जो दृश्यत्व होगा वो वैतथ्य का व्याप्य सिद्ध हो जाता है यानी हेतु में व्याप्यत्व आना चाहिए ना व्याप्यत्व है मानी यत्र दृश्यत्व तत्र तत्र वैतथ्य यह सिद्ध हो जाएगा हाँ स्वप्ने भावानाम दृश्यत्व वैतत्व च दृश्य दो नंबर टिप्पणी में कहा स्वप्न में जो पदार्थ है उसमें दोनों धर्म दिखाई दे रहे हैं क्या क्या दिखाई दे रहे हैं दृश्यत्व भी है वैतथ्य भी है यह तो प्रश्न है सभी मानते ही हैं ठीक इसी प्रकार यहां भी हो एक स्वप्न भावानाम भावानाम पदार्थानाम जितने भी वस्तु है स्वप्न में तो वो उसमें यही दिखाई पड़ता है दृश्यत्व वैतत्व का दोनों हमें से एक इसमें ये टीका में दो नंबर टिप्पणी थी ये भाष्य में यथा तत्र स्वप्न दृश्याणाम भावानाम वैतथ्यम इसका अर्थ रहे हैं टिप्पणी का जैसे देखा है उस स्वप्न अवस्था तत्र मैंने स्वप्न कारिका में तत्र शब्द है उसका अर्थ स्वप्न स्वप्न अवस्था में दृश्याणाम भावानाम वैतथ्यम दृश्य जो पदार्थ है वो सब वितथा है झूठे हैं कहा उसी के ऊपर में टिप्पणी जो कहा स्वप्न भावानाम दृश्यत्व वैतथ्यम ये तो स्पष्ट है कैसे अनैन दृश्यत्व से वैतथ्य व्याप्यत्व मुक्तम इस तरीके से क्या हुआ जो दृश्यत्व होगा वैतथ्य का व्याप्य होगा हेतु बन जाएगा दृश्यत्व साध्य व्याप्य हेतु होता है एक कहते तथा जागृति भी अब वो तथा जागृति कारिका में उसका अर्थभाष्य में कहा तथा जागृति भी दृश्यत्व अविशिष्टम दृश्यत्व हेतु समान है जैसे स्वप्न में है स्वप्न की वस्तु अनुभव के विषय होते तो जागृत के विषय भी अनुभव के विषय इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय बन रहा है समान है बराबर है अनुभव विषयत्व तो समान है दृश्यत्व का था तो अनुभव विषयत्व तो। अविशिष्टम इति हेतु उपनय एक हेतु का लिंग परामर्श किया जा रहा है ये कहा तथा जागृत माने वैसे ही जागृत में है करके हेतु का परामर्श किया जा रहा है ये लिंग परामर्श बोलते हैं तो तृतीय हेतु ज्ञान बोलते हैं इत्यादि क्योंकि हेतु का ज्ञान तीन तीन बार हो गया अभी कैसे पहले एक ध्रुमात बोल दिया था पर्वतो वजमान एक बार ज्ञान हो गया धूम का दूसरी बार यत्र यत्र धूमा तत्र महानसम यथा महानसम दूसरी बार धूम का ज्ञान हो गया तथा से अयम ये भी बनी से धूम वाला ये तीसरा ज्ञान है ये तृतीय लिंग परामर्श शब्द से का आदि बोलते हैं ती, तीसरे बार हेतु का ज्ञान होना किंतु पहले बार केवल धूम का ज्ञान हुआ था अब की बार अग्नि से ही धूम का ज्ञान हो गया विशेषता यह हो गई पहली बार का अब की बार का स्थान पर है ठीक इस प्रकार यहां की है समझ अच्छा ये हेतु अपने वाक्य है अच्छा, इधर टिप्पणी थी तीन नंबर टिप्पणी थी व्याप्य से पक्षवृत्तित्व व्याप्य मान हेतु होता है व्याप्य पक्षवृत्ति है जागृत के विषय में है दृश्यत्व तो हेतु है ये दिखा है आह क्या बोलते तथा इत्यादि समय से कहा तथा जागृत तथा इति वैतथ्य व्याप्य क्या तथा शब्द अर्थ मतलब वैतथ्य व्याप्य है कौन दृश्यत्व हेतु इस तरफ एक नंबर की टिप्पणी है हेतु उपनय हेतु उपनय मानी हेतु धर्मता पक्ष वृत्तित्व विद्यावत हाँ, पक्ष धर्मता ज्ञान पक्ष में रहने वाले धर्म में पक्ष धर्मता हेतु में पक्ष धर्मता आता है धर्म आएगा पक्ष धर्मता हेतु पक्ष धर्म है पक्ष में रहने वाला धर्म है अनुमान में जो पक्ष होता है उसमें वो हेतु को देख करके काम करता है वही होता है धर्म पक्ष धर्म होता है ये कहा हेतु पक्ष धर्मता मैंने पक्ष वृत्ति पक्ष वृत्ति है जागृत भावा में दृश्यत्व हेतु बैठा हुआ है और मिथ्यात्व भी रहेगा जहां दृश्यत्व होगा मिथ्यात्व रहेगा इसलिए इनको मिथ्या समझना और अनुमान प्रमाण से यहां पर जागृत के विषयों को मिथ्या घोषित किया भाष्य में कहा तस्मात जागृत देवी वैतत्व स्मृतम यदि निर्माण तस्मात आगे कारिका में तस्मात शब्द है तस्मात मैंने जागृत भी जब मिथ्यात्व व्याप्त दृश्यत्व है होने से मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्वत्वाद तस्मात मिथ्यात्व व्याप्य साध्य व्याप्य हेतु मतवा साध्य व्याप्य हेतु मान होने से यहाँ साध्य मिथ्यात्व है और उसके व्याप्य होता है दृश्यत्व ऐसा होने से वैतथ्यम जागृत भी वैतथ्य स्वरूप जागृत अवस्था में भी जो जितने भी वस्तु हैं सबको मिथ्या ही स्मरण किया है महापुरुष यदि निगम यह अंतिम बात होगा अनुमित ज्ञान यामिति ज्ञान ज्ञान का वाक्य है निगम वाक्य है जो प्रतिज्ञा किया था जागर भावावृत्ति आवश्यक अंतस्थान थोड़ा सा भेद यही है एक कारिका में कहा था जागृत के विषय में स्वप्न के विषय में थोड़ा भेद क्या है अंतस्थान समृद्ध स्वप्न दृश्यानाम भावाना जागृत दृश्य में भेद जागृत के दृश्य वर्गों से स्वप्न के दृश्य वर्ग में थोड़ा भेद यही है कि वो भीतर संकुचित स्थान में है और ये जागृत के दृश्य जितने बाहर है और थोड़ा बृहद साम्य है इतना भेद है किंतु मिथ्यात्व में दृश्यत्व में भेद नहीं है उनके भिन्न भिन्न स्थानों में दिखाई पड़ते हैं अलग बात एक बाहर दिखाई पड़ता है एक भीतर दिखाई पड़ता है ये अलग है किंतु अनुभव में दो तरह के हैं होने पर भी मिथ्यात्व और दृश्यत्व में भेद नहीं है ठीक है दृश्यत्व असत्यत्व से अविशिष्टम हो गए थे तो दोनों स्थानों में ये दोनों धर्म तो है दृश्यत्व भी है और असत्यत्व भी है स्वप्न में भी है जागृत में भी हमको अनुमान से यही सिद्ध करना था असत्यत्व सिद्ध करना था तो सिद्ध हो जाता ठीक है सर उक्त न्याय न दृष्टांत के सिद्धे फलित मनुना उक्त न्याय तीन तीन कारिका में युक्ति बताई है अंतस्थान आपको समृद्धत्व हेतु न प्रथम कारिका में कहा है स्वप्न के पदार्थ को ऋषियों ने ऐसा माना है क्या माना है मिथ्या माना नैतथ्यम सर्वभावान स्वप्ने आहुर मनुष्य स्वप्न अवस्था के जितने भी वस्तु मिथ्या है ऐसा कहा क्यों कहा अंतस्तत्वा तो भावाना समृतत्व हेतु भीतर है नाड़ी के भीतर है संकुचित स्थान में है इतने बड़े बड़े पर्वत आदि होना संभव नहीं है इसलिए वो मिथ्या एक कारिका में सकता और दूसरे कारिका में इस पूर्वक्ष की शंका हो सकती थी नहीं नहीं यहां नहीं है वही विषय बाहरी है स्वप्न दृष्टा वहीं जाकर देखेगा पर्वत जहां होगा वहीं पहुंच करके देख के लौटेगा सागर जहां होगा वहीं देख करके लौट आएगा तो क्या अधिक गत्वाच का आलस्य गत्वा देशा मतस्य इतना समय नहीं उसके बाद जब वहां जाकर के देख के लौट के स्वप्न दृष्टा और अगर वहां गया होता वहीं जगना चाहिए उसको दूसरे तर्क भी दिया प्रतिबुद्ध से वही सर्व तस्वीर जैसे नवीन जब जगता है व्यक्ति तो जिस देश में स्वप्न देख रहा था वहां नहीं जगता जहां सोया था वहां जगता है इसका मतलब वो बाहर गया ये दूसरी युक्ति दी थी तीसरा श्रुति का भी युक्ति किया था अभावसरथादी नाम श्रुते न्याय पूर्वकम इत्यादि कहा था सर में से कहा न तत्र रथा कुछ नहीं है वहां कहा गाड़ी भी नहीं गाड़ी खींचने वाले घोड़े भी नहीं और वहां पर मार्ग भी नहीं कुछ नहीं ये तो सब बना लेता है कल्पना करना तो इससे भी वो वैतथ्य सिद्ध होता है स्वप्न के पदार्थ में स्तृति के आधार पर झूठा ही सिद्ध होता है तो यही है यह उक्त न्याय उक्त न्याय दृष्टान्त सिद्ध इतने युक्ति लगा करके दृष्टांत सिद्ध कर दिया स्वप्न झूठा है सिद्ध कर अब उसी को दृष्टांत बनाकर जागृत को झूठा सिद्ध करना है उक्त न्याय न दृष्टांत सिद्ध दृष्टांत सिद्ध हो गया स्वप्न झूठा असत्य है के सिद्ध होने पर फलितम अनुमान मान निष्पन्न क्या हुआ अनुमान निष्पन्न होगा संपन्न होगा अनुमान ये कारिका में अनुमान करते हैं अंतस्थान वेदानाम तस्मा जागृत स्मृतन इत्यादि अनुमान का स्वरूप दिया जागृत पदार्थों को मिथ्या घोषित करने के लिए अनुमान का स्वरूप दिया ये कारिका चतुर्थ कारिका ने कहा ठीक है नाम इत्यत्र सूचित अनुमान आचरेगी आरचयती कहते हैं देखो वेदानाम जो कहा था इसमें वेदानाम पदार्थान ये सूचित हुआ वेदानाम का अनुमान पदार्थों का अनुमान है किसका विषयों का अनुमान विषय संबंधी अनुमान है वो सूचित हुआ अनुमान की रचना करते हैं इस कारिका में पंजाब और वाक्यों के माध्यम से रचना करते हैं अनुमान का स्वरूप निर्धारण करते हैं ये कहा जागृत इत्यादि कहा था जागृत दृश्यानंद भावानंद वैकक्षण प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा वाक्य एक एक करके पांचों वाक्य बता दिया है ठीक है तृतीय पादे में पक्ष धर्मत्व व्याप्त हेतु उच्चते दर्शयती देखो तृतीय पाद के द्वारा पक्ष धर्मता दिखाई गई तृतीय पाद क्या है यथार्थ अत्र तृतीय पाद है हाँ। यथार्थत्र तथा जागृति जैसे वहां वैसे यहां कि क्या दिखा पक्ष धर्म हेतु पक्ष में है साध्य व्याप्त हेतुमान पक्ष ऐसा है ये दिखाई तृतीय पाद के द्वारा तृतीय पाद है ना पक्ष धर्मत्व हेतु पक्ष में है व्याप्त से साध्य के द्वारा व्याप्त हुआ हेतु हेतु उच्चते हाँ, हेतु को कहा गया तब दर्शे दर्शेतु ये कहा यथा तत्र तथा जागृत इत्यादि समय से तृतीय पाल में जोड़ करके कहा भाषण में कहा था यथा तत्र श्लोक में दृश्यान भावान तथ्यम तथा जागृत भी अविशेष समान द्वितीय पादे प्रतिकूल प्रमाण अभाव सूचक प्रतिज्ञा उपसंहार द्वितीयपाद के द्वारा तस्ता जागृत स्मृतम है ना तस्मात तथा प्रतिज्ञा वाक्य है ये प्रतिज्ञा से युक्त वो निगमन वाक्य दिखाया एक है द्वितीय पाद है ना प्रतिकूल प्रमाण अभाव सूचक प्रतिकूल प्रमाण नहीं है यहाँ अनुकूल है सब शंका वाक्य अनुकूल है जैसे स्वप्न का है वैसे जागृत के लिए प्रतिकूल कोई प्रमाण नहीं मिलता है जागृत भिन्न है करके सिद्ध करने वाला प्रमाण नहीं है प्रतिकूल प्रमाण का अभाव का सूचक प्रतिज्ञा उपसंहार वचन जो प्रतिज्ञा किया था क्या प्रतिज्ञा थी जागृत भावाभिख्या ये जो प्रतिज्ञा उसी के उपसंहार वचन है निगमन वाक्य है द्वितीय पार में ये कहा तस्मात ये जो द्वितीय पाद है तस्माद है ना उससे वही सिद्ध होता है तस्मात तथा ये बोलते हैं अंतिम वाक्य प्रतिज्ञा का उपसंहार कथन करने वाला निगम सूत्र ये सूचित किया द्वितीय पाद से कहा तस्मात इत्यादि भाष्य में कहा तस्माद जागृत भी वैतथ्यम स्पतम जागृत में भी पूछ ही है ये ज्ञान किया यही सिद्ध करना है ये अनुमिति ज्ञान यही है यही अनुमति होनी है जागृत के विषय पूछ ठीक है सर्वदोष द्वैत वैतथ्यवादी नाम के न सपक्ष विपक्ष विभाग सिद्धि क्या एक शंका होती है आप सबको मिथ्या कहने वाले हैं स्वप्न भी मिथ्या है जागृत भी मिथ्या है अनुमान में सपक्ष से विपक्ष को भिन्न करना पड़ता है सपक्ष विपक्ष पक्ष सपक्ष विपक्ष इत्यादि विभाग होना चाहिए क्योंकि जहां संदिग्ध साध्य होगा संदिग्ध साध्यवान पक्ष उसको पक्ष बोलते हैं निश्चित साध्यवान सपक्ष जहां साध्य का निश्चय हो पहले से और साध्या निश्चित साध्या भावान विपक्ष जहां साध्य का अभाव निश्चित हुआ होगा जो स्थान है उसको विपक्ष होते हैं पक्ष सपक्ष विपक्ष पर्वतो धुमा इस अनुमान में पक्ष होता है पर्वत पर्वत में अग्नि है कि नहीं संदेह है धूम के बाद आगे निश्चय होना है संदिग्ध है तो वो पक्ष हो गया और अग्नि और धूम अग्नि का निश्चय कहाँ है महानसी में पहले से जानते हैं वो सपक्ष हो जाता है निश्चित तो साध्यवान सपक्ष जहां शांति का निश्चित हो उसको सपक्ष कहते हैं और निश्चित साध्याभाव जलहरण है जहां सागर है सागर में अग्नि नहीं है निश्चित है पहले से तो हो जाएगा विपक्ष तो यहां पूर्वादी शंका उठाता है महाराज आप तो सबको मिथ्या घोषित करने वाले हैं तो सपक्ष विपक्ष आदि का भेद कैसे करोगे आप स्वप्न और जागृत में उसको सपक्ष बनाना पड़ेगा दृष्टांत जहां देते हैं उसको सपक्ष बनाना होगा और जागृत को पक्ष बनाना होगा तो पक्ष और सपक्ष का विभाग आपके मत में कैसे होगा आप तो सबको मिथ्या जाने वाले हैं कुछ भेद होना चाहिए जैसे पहाड़ है वैसे मानस नहीं होता पहाड़ की में पेड़ पौधे हैं तो मानस में भी होगा क्या नहीं होता कुछ भेद होता है ना सपक्ष पक्ष और सपक्ष आदि में भेद होता है तो आपके मत में तो भेद है ही नहीं आप सबको मिथ्या घोषित कर रहे हो यही शंका है पूर्ववादी की यही कह रहा है सर्वद्वैत वैकथ्यवादी नाम वेदांति नाम अद्वैतवादी नाम संपूर्ण द्वैत को मिथ्या घोषित करने वाले जो आप हैं आपके मत में आप लोगों के मत में केन विशेषण पक्ष सपक्ष विवाह सिद्धि क्या विशेषण होगा आप क्या विशेष है आपके पास जो कि पक्ष और सपक्ष का विवाह कर सके माना जागृत और स्वप्न का विभाग कर सके जागृत पक्ष है यहां और स्वप्न तो आप सपक्ष बना रहे हैं दृष्टांत जहां देते हैं वो सपक्ष होता है तो क्या क्या विशेषता है दोनों में आप तो उसको भी मिथ्या मानते हैं इसको भी मिथ्या मानते हैं बराबर है आपके मत में तो आपके यहाँ सपक्ष और पक्ष में विभाग करने वाला निमित्त क्या है ये पूछा जा रहा है सर्वद्वैत वैतथ्यवादी नाम मान जो वेदांति नाम जो वेदांति लोग हैं जो भी द्वैत है सब मिथ्या है ऐसे घोषित करने स्वप्न द्वैत की मिथ्या है जागृत द्वैत की मिथ्या है आदि नाम केन विशेषण क्या विशेषता है आपके पास पक्ष सपक्ष विभाग सिद्धि किस विभाग विशेष के द्वारा आप पक्ष और सपक्ष का विभाग की सिद्धि किस विशेष से होगा ऐसी शंकर की सिद्धि गुरु ने कहा इतिहास कहते हैं भाई इतना विशेष है हमारे पास मिथ्या होने पर भी एक भीतर है एक बाहर बस इतना ही विशेषता है तो भीतर वाला सपक्ष है और बाहर वाला पक्ष है यही कहा यही कहा था अंतस्थानात वेदाराम स्वप्न समृद्धत्व विद्युत ये जो था उसका स्वप्नावस्था में भिन्न हो जाता है किंतु तो, तो मिथ्यात्व में दृश्यत्व में भेद नहीं है कहा ये कहते हैं उत्तर दे रहे थे अंतस्थानात्म समृद्धत्व विद्यते एक अंत स्थान में भीतर है संकुचित स्थान में इसलिए भिन्न हो जाता है सब पक्ष पक्ष की अपेक्षा पक्ष बाहर है जागृत बाहर है स्वप्न भीतर है इससे भेद हो जाता है सपक्ष पक्ष के निर्णय हो जाता है तथा विवेक्षतम अर्थमा इत्यादि भाषण था अंतस्थानात स्वप्न दृश्या भावानाम जागृत दृश्य में जागृत दृश्यों की अपेक्षा विशेषता उसमें है क्या विशेषता है भीतर में है समृद्ध है संकुचित स्थान इसलिए सपक्ष बन जाएगा स्वप्न दृष्टांत हो जाएगा ठीक है स्वप्न दृश्यानाम अंतस्थानम समृतत्व स्वप्न में जो दृश्य पदार्थ हैं जितने भी विषय हैं उसमें दो धर्म दिखाई पड़ रहे हैं अंतस्थान है भीतर स्थान है और संकुचित स्थान है न तथा जागृत दृश्याराम जागृत में ऐसे नहीं है उनका स्थान बाहर है जागृत विषय का स्थान बाहर है और वो बृहद है वो संकुचित भी नहीं है न तथा उस प्रकार स्वप्न जैसा नहीं जागृत न तथा जागृत नाम फिर जागृत दृश्य में उस प्रकार नहीं है अंतस्थानत्व आदि समृद्धत्व अंतस्थानत्व नहीं है इसलिए पक्ष सपक्ष भेद हो जाए फिर उचित आदि अभाव तेषाम तेभ्यो वैषम्यम स्फुटम कहते देखो स्वप्न में उचित देश नहीं है जो कि नाड़ी के भीतर में स्वप्न देखा जा रहा है गीता नाम के नाड़ी के भीतर मन होता है वहीं पर स्वप्न के दृश्य दिखाई दे रहा है तो उचित देश मान पहाड़ देखने के लिए कई किलोमीटर का पहाड़ दर्शन होता है पर्वत का दर्शन होता है सागर का दर्शन होता है तो क्या नाड़ी के भीतर होना संभव उचित देश है उसके लिए रहने का स्थान पर्याप्त है नहीं हो सकता स्वप्न ऐसा है उचित देश और उचित काल भी नहीं आदि से काल को लेना वहां जाकर के देख के आता है कहना भी संभव नहीं है थोड़े समय में वहां जाके पहुंच के आना संभव नहीं उचित देशादि अभाव तेषाम तेभ्यो वैषम्य पत्र तेषा माने स्वाप्निक भावाना जो स्वाप्निक पदार्थ है उनका तेभ्यो जागृभ्यो वैषम्य जागृतिक पदार्थों से वैषम्य है जागृत के पदार्थों के रहने के लिए उचित देश है स्वप्न के पदार्थों का रहने का उचित देश नहीं है और जागृत के पदार्थों के रहने का उचित काल भी है किंतु स्वप्न के लिए उचित काल भी नहीं है इसलिए स्वप्न के पदार्थों का जागृत के पदार्थों से भिन्नता है इस अर्थ में भिन्नता किंतु ये दृश्यत्व और मिथ्यात्व में भिन्नता नहीं है वो भी दृश्यत्व धर्म बैठा हुआ है झूठे हैं वो भी ये भी दृश्यत्व धर्म बैठा है झूठा इसमें भेद नहीं है मैंने सपक्ष और पक्ष के भेद करने के लिए ये तर्क दिया है आगे सिद्धम ही योग्य देशादि अभाव है ना स्वप्न से मिथ्यात्म स्वप्न मिथ्या इसलिए सिद्ध हो चुका है दृष्टांत के साथ सिद्ध कर दिया है क्यों स्वप्न देश स्वप्न का योग्य देश योग्य काल का अभाव हो योग्य स्थान नहीं है देश में स्थान जहां स्वप्न दिखा जा रहा है और जो दिखाई पड़ रहा है वो बड़ा दिखाई दे रहा है कई किलोमीटर का पहाड़ और जहां दिखाई दे रहा है सूक्ष्म नाड़ी के भीतर तो उचित समय का अभाव उचित देश का अभाव से स्वप्न से मिथ्यात्म सिद्धम स्वप्न मिथ्या है ये सिद्ध हो गया स्वप्न में मिथ्यात्व धर्म सिद्ध हो चुका है तो इसलिए सपक्ष हो जाएगा वो वो सपक्ष बन जाएगा दृष्टांत स्थान बन जाएगा जो दृष्टांत स्थान होता है उसी को सपक्ष बोलते हैं अनुमान जो विपक्ष सपक्ष विपक्ष तीन बनाते हैं नैया एक लोग संदिग्ध साध्यवान पक्ष निश्चित साध्यवान सपक्ष निश्चित साध्याभावान विपक्ष ऐसा मानते हैं अनुमान जागृत से अजागृत से देखो उससे क्या भेद क्या है यहाँ जागृत में उचित देश आदि सद्भाव जागृत के विषयों के लिए उचित देश उचित काल है समय भी है देश है सद्भाव होने से अस्फुटम मिथ्यात्म यहाँ पर संदिग्ध अवस्था में मिथ्यात्व संदिग्ध साध्यवान सपक्ष इसलिए यह मिथ्यात्व तो संदिग्ध था इसलिए दृष्टांत देकर के सिद्ध करना पड़ा अनुमान के द्वारा सिद्ध करना पड़ा ये हो जाएगा पक्ष हो जाएगा पक्षत्व मित्यर्थ ये पक्ष हो जाए सपक्ष निश्चित साध्य वाला था मिथ्यात्व सिद्ध है वहां आदि उचित देश आदि के अभाव होने से और यहाँ उचित देश आदि है इसलिए जो मिथ्या है कि सत्य है निश्चित करना मुश्किल था इसलिए पक्ष बन जाएगा ठीक है आगे तभी सर्वदा वैषम्या दृष्टान्त दार्थांत का अभाव आवासित इतिहास कहते महाराज तब तो भिन्न हो गए दोनों एक भीतर दिख रहा है एक बाहर दिख रहा है ऐसे हैं तो इस स्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार होता है तो फिर ये दृष्टांत दार्शांतिक नहीं बनेगा ये पूर्वादि शंका करेगी तब तो सर्वथा वैषम्य हर प्रकार से विषमता आ गई वो भीतर है बाहर है वह उचित देश आदि नहीं है या उचित देश आदि है हर प्रकार से विषम होने से दृष्टांत दार्शांतिक भाव असिद्धि दृष्टांत और सिद्धांत भाव की सिद्धि नहीं हो पाएगी यदि आसन जैसा करके कहा नहीं ये जो हेतु और साध्य में बराबर है वैषम्य नहीं है यही भाषण का कहा दृश्यत्व असत्यत्व च हो उभय दोनों स्थानों में स्वप्न हो चाहे जागृत हो दोनों में दृश्यत्व जो हेतु और असत्यत्व जो मिथ्यात्व है असत्यत्व ये साध्य दोनों बराबर है इसमें कोई भेद नहीं ठीक है <coughs> तरी की टिप्पणी तर्की जागृत दृश्याणाम उचित दशा सत्य क्योंकि वहां पर उचित देश आदि नहीं थे पूर्वादी कहता है जब जागृत दृश्य में उचित देश आदि है और वहां उचित देश आदि नहीं है स्वप्न में तो तो दृष्टान्त दाष्टान्ति को समता है ही नहीं समता में समता में होने से असिद्धि हो दृष्टान्त दार्शांतिक बनेगा नहीं दृष्टांत तो वैसे ही दिया जाता है जैसे यहाँ वैसे वहां करना पड़ेगा ऐसा बनेगा नहीं ये कहा हो जाएगा माने साध्य और हेतु में वैषम्य नहीं है बाकी वैषम्य होता ही है जब हम पर्वतों वनिमाम घुमाव बोलते हैं उसमें पर्वत में जो जो वस्तु है वही वही वस्तु महानस में है क्या अथवा महानस में जो जो वस्तु होंगे पर्वत में भी वो सारे वस्तु हैं अगर समान हो तो तो साध्य सम हो जाएगा तो फिर दृष्टांत तो फल ही नहीं बनेगा विषमता तो रहेगी अनुमान में समता दिखानी है जिसमें दृष्टांत प्राप्त हेतु और साध्य यहां भी तो विषमता रहा नहीं होना ही है नहीं तो सपक्ष और पक्ष कैसे घोषित होगा विषमता रहे आगे टीका में स्वप्न व जागृत से मिथ्यात्व जैसे स्वप्न मिथ्या है उसी प्रकार जागृत में मिथ्या ही सिद्ध करने में स्वप्न निद्रा युत आद्य इत्यादो जागृत स्वप्न शब्द प्रयोग हो युक्त हो भगवती कहते देखो पहले आगम प्रकरण में कहा करके आए जागृत स्वप्न दोनों को स्वप्न शब्द से कहा है दोनों समान है क्या है हाँ। स्वप्न निद्रा युत आद्य प्राज्ञ तो स्वप्न निद्रया न स्वप्न नागवा निद्रम तूर्य पश्यंती दीक्षिता ऐसा आगम प्रगम बोल दिया है देखो ये दोनों विश्व और तेजस आत्मा क्या है स्वप्न और निद्रा दोनों से घेरे में पड़े हुए हैं स्वप्न में भी पड़े हैं और निद्रा में भी पड़े हैं किंतु प्राज्ञा स्वप्न में नहीं है खाली निद्रा में है और तुरीय में दोनों नहीं होते हैं स्वप्न भी नहीं निद्रा भी नहीं कहा तो इस स्वप्न निद्रा का अर्थ क्या किया अन्यथा आकृणता स्वप्न हो निद्रा तत्व निद्रा तत्व अजानता विपर्यास तय क्षण तुरीयम पदम स्मृत आगम प्रकरण में बोलते आई का जब अन्यथा ग्रहण जब होता हो उसको स्वप्न कहते हैं वस्तु कुछ है दूसरे रूप में रूपांतर में दिखाई पड़े वो है स्वप्न जागृत में भी है शुद्ध चेतन है सारा संसार में दिखाई पड़ रहा मनुष्य आदि आकृति अन्यथा ग्रहण होता स्वप्न जो तो अन्यथा ग्रहण होता होता है तो उसको स्वप्न कहते हैं वेदांत का स्वप्न ऐसा स्वप्न है और निद्रा तत्व न जानता अधिष्ठान को न जानना कल्पना की जो अधिष्ठान है या आत्मा उसको कहते हैं निद्रा तो सुसुप्ति में अन्यथा ग्रहण तो नहीं है विषय नहीं है कि अन्यथा ग्रहण होगा वहां किंतु अज्ञान है आत्मा को न जानना रूपी अज्ञान है प्राज्ञ वह स्वप्न या अपराध्य जो स्वप्न तो नहीं है अपराध्य में किंतु निद्रा से युक्त है से तय क्षण ये जो विपरीत बुद्धि दोनों में समाप्त हो जाए स्वप्न भी नहीं और निद्रा भी नहीं तो तुरीयम पदम अस्मृत तुरीय का अनुभव करता है ऐसा कहा था कोई बात यहां बता रहे हैं स्वप्न जागृत से मिथ्याप्य तो स्वप्न जागृत दोनों के दोनों मिथ्या होने में स्वप्न निद्रा युत इत्यादि कहा कारिका में कहा आगम प्रकरण में स्वप्न निद्रा युत आद्यऊ इत्यादि कहा था अच्छा इति इत्यादो जागृत स्वप्न शब्द प्रयोग को युक्तो भवती जागृत में भी स्वप्न शब्द का प्रयोग किया है वहां क्यों अन्यथा ग्रहण है अन्यथा ग्रहण तो स्वप्नो जब जब अन्यथा ग्रहण होगा तब तक तो स्वप्न है जागृत में अन्यथा ग्रहण हो रहा है है सच्चिदानंद आत्मा और हमें दिखाई पड़ रहा है मनुष्य आदि रूप में रस्सी पड़ी हुए थे सर्पादि देखते हैं वैसे ही है भी हाँ, एक अव्यवादिति हम श्रुति के सहारा लेंगे तो एक सच्चिदानंद आत्मा ही है किंतु हमें दिखाई पड़ा रूपांतर में यह अन्यथा ग्रहण है ये स्वप्न है ये यही कहा यहां स्वप्न ही होता है करके कहा कारिका में कहते हैं स्वप्न जागृत स्थान एक माहौर मनीषिणा वेदानामि समत्वेन प्रसिद्धेन हेतुना स्वप्नजागरिते स्थाने हेकमाहुर्मनीषिणः वेदानामि समत्वेन प्रसिद्धेन हेतुना स्वप्न जागृते स्थाने ये द्वितीय के दो वचन है स्वप्न स्थान और जागृत स्थान दोनों को यह अर्थ है नपुंसक लिंग में प्रयोग है स्थानम स्थाने द्वितीय का दो वचन है कर्म है ये एकम आहुर मनीषिणा मनीषिणा एकम आहु ये दोनों को एक ही कहते हैं मनीषी लोग स्वप्न और जागृत को भिन्न नहीं मानते दोनों को स्वप्न ही मानते हैं समान मानते हैं मनीषी लोग क्यों उनके दृष्टि में क्या है अन्यथा गृहणता स्वप्न निद्रा तत्व अजानत ये कारिका को पूरा ध्यान में रखे हुए हैं मनीषी लोग ऐसे होते हैं जब जब अन्यथा ग्रहण होगा वस्तु कुछ हो दूसरी दृष्टि होगी तो स्वप्न है हाँ, जैसे स्वप्न में होता है अन्यथा ग्रहण वैसे यहां भी अन्यथा ग्रहण चल रहा है कि विश्व तेजस जागृत स्वप्न दोनों अन्यथा ग्रहण अन्यथा गृहता स्वप्नो निद्रा तत्व अजानत विपर्यासे तयो क्षीणे तुल्यम पदमस्मृत आगम प्रकट बोला मनीषी लोग जो है वो जानते हैं इस बात को ये कह रहे हैं स्वप्न जागृत है दोनों स्थान स्वप्न स्थान जागृत स्थान दोनों के दोनों स्थानों को ही मानी अस्मात एकम आहु मनीषिणा एकम आहु एक ही मानते समान मानते हैं कोई भेद नहीं मानते जैसा स्वप्न वैसा जाते बस कोई भेद नहीं मनुष्यों की बुद्धि भी बातें बैठी हुई है कल्पना है वो भी कल्पना है ये भी कल्पना है क्यों अन्यथा ग्रहण है ऐसा मनुष्य लोग मानते हैं उनकी बुद्धि ऐसी है वेदानाम ही समत्व नहीं क्योंकि जो विषय है समान है वेदानाम विषयाणाम स्वप्न के विषय जागृत के विषय समान है वहां भी क्यों समान है प्रसिद्ध हेतु ना प्रसिद्ध हेतु है क्या हेतु है ग्राह्य ग्राहकत्व भाव दोनों तो में है वहां भी ग्राह्य ग्राहकत्व दृष्टा दृश्य तो होगा यहां भी दृष्टा दृश्य तो है एक ग्रहण करने वाला और एक ग्राह्य वस्तु ग्राह्य ग्राहक भाव हेतु दोनों में समान है बराबर है स्वप्न में भी दो बन के काम होता है दृष्टा और दृश्य दो बनता है यहां भी दो ही बना हुआ है दृष्टा और दृश्य दो ही होता है ये प्रसिद्ध हेतु है माने जो धर्म वहां दिखाई देते हैं वही धर्म यहां है इसलिए मनुष्य लोग दोनों को एक ही मानते हैं जागृत स्वप्न को दो अवस्था दो भेद नहीं मानते हैं स्वप्न जागृत स्थान ही एकम आहुर मनीषी जो मनीषी लोग हैं बुद्धिमान विवेकी लोग स्वप्न और जागृत दोनों के दोनों को एकम आहू एक ही कहते हैं समान कहते हैं दोनों में कोई भेद नहीं ऐसा कहते हैं क्यों वेदा नाम भी समझ देना विषय समान है जैसे वहां वैसे यहां क्यों प्रसिद्ध ही नहीं हेतु ना प्रसिद्ध हेतु है क्या हेतु है ग्राह्य ग्राहकत्व तो हेतु है ग्राहक और ग्राहक ग्राह्य दो भाग होता है अभी द्वैत अवस्था है यही है ये ये ग्राह्य है ये ग्राहक है ऐसा बना हुआ है द्वैत होते हैं यही हेतु है जैसे धर्म वहां ग्राह्य ग्राहकत्व तो दिखाई पड़ता है वैसे धर्म यहां भी ग्राह्य ग्राहकत्व तो है इसलिए दोनों एक ही है कि मनुष्य लोग मानते हैं ये कहा स्वप्नवत जागृत से मिथ्यात्व स्वप्न निद्रा युतो आदो जागृत स्वप्न सब प्रयोग युक्त इत्या कहा स्वप्न और जागृत के मिथ्यात्व होने पर स्वप्न के समान जागृत के मिथ्या होने में वो जो कार्य का युक्ति संगत है कहा आगम प्रकरण के कार्य का स्वप्न निद्रा युत आज प्राग्ञस्त तो स्वप्न निद्रया इत्यादि कार्य का है आगम प्रकरण में इत्यादि में जागृत स्वप्न शब्द रहेगा जागृत अवस्था में भी स्वप्न शब्द का प्रयोग किया है वहां क्यों अन्यथा अग्रणता स्वप्न अगला कार्य का है तो स्वप्न निद्रा युत आज प्राग्ञस्त स्वस्वप्न निद्रया इत्यादि जो कहा था हाँ, उसके आगे कार्य का है कि अन्यथा गृहत स्वप्नो निद्रा तत्व अजानत विपर्यासे से क्षणे तुरीयम पदवस्त स्वप्न शब्द दोनों में स्वप्न शब्द प्रयोग हुआ है अन्यथा ग्रहण होने के कारण स्वप्न शब्द का प्रयोग हुआ है जागृत वो भी स्वप्न भगवती तो इत्यादि कहा स्वप्न इत्यादि शब्द से कार्य करना उभयत्र एकत्व विद्युत अभिमतम इत्यत्र हेतु महा मनीषिणा कहा एक माहौल मनीषिणा विद्वानों का मंतव्य है विद्वान लोग ऐसा मानते हैं जब ये स्वप्न और जागृत को रिसर्च करने वाले विद्वान होंगे विवेक दृष्टि से देखते हैं ऊपर से देखने में तो भिन्न लगता है ये सत्य लग रहा है झूठा लग रहा है लेकिन तो मनीषी लोग जो होते हैं बुद्धिमान उनके यहाँ एक ही दिखाई पड़ता है उभयत्र एक होता है स्वप्न और जागृत में एकत्व विद्वत विद्वत अभिमतम विद्वानों का अभिमत है ये मान्यता है उनकी तो वेदांत के मर्मज्ञों को समझने वाले हैं जागृत सपने के विषय में जिन्होंने रिसर्च किया हो वैज्ञानिक बड़े वैज्ञानिक हैं उनके दृष्टि में ऐसा है ये हेतु बताया क्या हेतु है भेदानाम ही समझ देना विषयों में समानता है वहां भी अन्यताकरण है यहां भी अन्यताकरण है हाँ। ग्राह्य ग्राहक भाव वहां भी है ग्राह्य ग्राहक भाव यहां भी है समान है वही तो होते हैं दृष्टा और दृश्य ग्राहक और ग्राह्य वही होते हैं तीसरा होता नहीं जैसे स्वप्न और जागरण में इसका कोई भेद है ही नहीं दो ही कारण दो ही दिखाई पड़ते हैं तो भेद भिद्यमाना भाव भेद शब्द का अर्थ अलग अलग जो विषय है उनको भेद कहा जाए भेदन होने वाले विषय स्वप्न और जागृत में जो भेदन वाले भिन्न भिन्न माने जाने वाले विषय हैं वो विषय तेसाम अवस्था में वर्दी नाम जो तो भिन्न भिन्न भाव से दिखाई देने वाले हैं जितनी वस्तु हैं वह दोनों अवस्थाओं में दोनों दिखाई पर दोनों अवस्थाओं में रहने वाले जो हैं विषय कैसा घेरा है जो भेद हैं मैंने भिन्न भिन्न रूप से भाषने वाले भेद हैं अवस्था में व्यक्ति नाम दोनों अवस्थाओं में रहने वाले जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो ग्राह्यत्व ग्राहकत्व यही हेतु विशेष हेतु यही है प्रसिद्ध हेतु ना कहा था ग्राह्यत्व तो और ग्राहकत्व तो दिखाई पड़ रहा है दो दिखाई दे रहा है एक ग्राहक बना हुआ है एक ग्राह्य बना हुआ है एक विषयी बना हुआ है एक विषय बना हुआ है एक दृष्टा बना हुआ है एक दृश्य बना हुआ है एक ग्राह ग्राहक है वहां भी ऐसा ही है यहां भी ऐसा ही है इसलिए दोनों अवस्थाओं को एक ही मानते हैं विद्वान लोग ये कहा इसलिए ग्राह्यत्व ग्राहकत्व अविशिष्टम चार की टिप्पणी है ना अवस्था दो ग्राह्यत्व अनात्मनो ग्राहकत्व च आत्मनो विशिष्ट दोनों अवस्थाओं में देखते हैं आत्मा ग्राहक बनता है और अनात्मा ग्राह्य होते हैं ये शरीर भी ग्राह्य हम इसको देखते हैं हम ग्राहक हैं इसको ग्रहण करने वाले हम बाकी तो ग्राह्य है ही है सारा ऐसा इंद्रिया भी ग्राह्य है जो दृश्य कोटि में हम देखते हैं इंद्रियों को हम तो चक्षु चक्षु है उतर श्रोत्र से श्रोतम के काम है आंख के आंख है ये आंख बाहर देखने वाली है हम हम होते हैं इस आंख को देखने वाले अंधे हो कहे अभी आपको आप मानने को तैयार हैं क्या आपको कोई कहे अंधे हो मानोगे क्यों मेरी आंख ठीक है मैं आंख को जानते हैं चक्षुषा चक्षु परिषद में कहा हम होते हैं आंख के भी आंख कान के भी कान मन के भी मन प्राण के भी प्राण ऐसे ग्राहक होते हैं सब इंद्रियों का ज्ञान है हमें मन का ज्ञान है बुद्धि का ज्ञान है बुद्धि कहाँ जा रही है मन कहाँ जा रहा है प्राण भूखे हैं कि प्यासे हैं कि ठीक हैं दिख रहा है ये दृश्य है हमारे साथ जैसे बाहर दृश्य है वैसे साफ पूर्ण शरीर सूक्ष्म शरीर सब सब हमारे दृश्य होते हैं <coughs> तो ये चार नंबर ने में कहा अवस्था को ये भी ग्राह्यत्म आत्मा आत्मा हमें अनात्मा अनात्मा जो होते हैं आत्मा इतिरत जीतते हैं ये ग्राह्य है और ग्राहकत्व से विषय तो आत्मा में ग्राहकत्व धर्म दिखाई पड़ता है और आत्मा से इतर जितने भी अनात्मा में ग्राह्यत्व धर्म समान है चाहे स्वप्न में चाहे जागृत हो इसलिए दोनों को एक ही मानते इसी हेतु को लगा करके विद्वान लोग दोनों अवस्थाओं को एक ही मानते एक आय का तात्पर्य एक आर्थिका में तेरह दृश्यत्व हेतु ना क्यों सबके सब दृश्य है दृश्यत्व हेतु ना प्रसिद्धम एवं मिथ्यात्म तेसा मिथ्यात्म दृश्यत्व हेतु वहां बैठा हुआ है सारे में आत्मा को छोड़कर अन्यत्र में इसलिए सब मिथ्या हो जाते है प्रसिद्ध हेतु के द्वारा तेसाम जागृत स्वप्न भावान जागृत भाव हो चाहे स्वप्न के भाव विषय हो मिथ्यात्व समत्व समान है दोनों तेरह स्थान और एक रूपत्व इसलिए क्या होगा जब दृश्यत्व समान होने के कारण क्या होगा दोनों स्थान और एकत्व दोनों स्थानों को एक ही मानते हैं स्थान इसी हेतु से तेरह माने हेतु ना उसी हेतु से स्थान एकत्व एक एक रूपत्व एक ही रूप है दोनों इसलिए एक माहुर मनुष्य ने कहा हुआ क्या एक रूपत्व विवेकी नाम अभिप्रेतम ये विवेकियों के लिए ऐसा इष्ट है तो जागरूक स्वप्न के विषय में बहुत रिसर्च करते हैं जो लोग उनकी दृष्टि में ऐसा दिखाई पड़ता है एक ही तत्व है ऐसा दिखाई पड़ता है यद पूर्वम अनुमानाख्यम प्रमाण सिद्धम जो पहले अनुमान नाम के प्रमाण सिद्ध किया था तस्से का फल उसी का फल है ये एकत्व होना स्थान अविशेष रूपम ये दोनों स्थान में अविशेष होना पूर्वोक्त अनुमान का फल है जो मिथ्यात्व अनुमान चल रहा था उसी के फल रूप में है ये फल अविशेष एक फलम स्थान अविशेष रूपम दोनों स्थानों में विशेष नहीं एक ही है वहां भी ग्राही ग्राहक भाव है यहाँ ग्राही ग्राहक भाव है समान है दृश्य तो वहां भी यहाँ भी माने ना श्लोक है ना उत्तम इस कार्य का द्वारा यही कहा जाए गया यदि श्लोक योजना या प्रश्न इस कार्य का योजना करते हुए दिखाते हैं कहा भाष्य में कहते हैं प्रसिद्ध प्रसिद्धे नहीं भेदान कार्य प्रसिद्ध हेतु क्या है कारिका में प्रसिद्ध है तो हेतु न कहा माने ग्राह्य ग्राहक भाव से वहां भी ग्राही ग्राहक भाव है यहाँ भी ग्राह्य ग्राहक भाव है जागृत स्वप्न में कोई भेद नहीं इसलिए एक ही मानते हैं प्रसिद्ध नहीं माने भेदाराम ग्राह्य ग्राहकत्व हेतु ना जो ग्राह ग्राहक भाव हेतु वहां भी है यहाँ भी है पदार्थ पदार्थान विषय चाहे जागृत के विषय हो चाहे स्वप्न के विषय हो सब में यही है ग्राह्य ग्राहक भाव है समान होने से स्वप्न जागृत स्थान और एकत्व आहुर स्वप्न और जागृत स्थान दोनों को एकत्व हाँ, एकत्व है दोनों स्थानों में एकत्व रहता है एक ही धर्म है एक ही है दोनों ऐसा कहते हैं विवेकी धर्म की तो विवेकी लोगों की दृष्टि में ऐसा है और को तो स्वप्न भिन्न दिखता है जागरण भिन्न दिखता है पूर्व प्रमाण सिद्ध से बोला पूर्व प्रमाण अनुमान प्रमाण चल रहा है उसी के निष्पन्न हुआ फल यह है दोनों एक ही है जन्म नहीं है बस यही सिद्ध जो दृश्य तो वहां है वही दृश्य यहाँ है जो मिथ्यात्व वहां है वही मिथ्यात्व यहां है एक एकाग्र स्वप्न ये पूर्व प्रमाण का फल पूर्व प्रमाण यहां पर अनुमान प्रमाण चल रहा था उसी का फल अच्छा। आगे ठीक है जागृत दृश्यानाम भावानाम मिथ्यात्व मित्र अनुमान प्रमाण कहते देखो भाई जागृत के विषय मिथ्या इसलिए भी है और एक ही दो तो और अनुमान एक और देंगे जागृत दृश्याराम भावानाम जो जागृति विषय है ना जिसको सत्य मान के बैठे हैं लोग तो एक अनुमान और दे करके इसको मिथ्या घोषित करेंगे एक अनुमान तो दे दिया है जागृत भाव मिथ्या दृश्यत्वा स्वप्नवत अनुमान हो चुका है दूसरा एक अनुमान देंगे और अनुमान प्रमाण और देंगे कहा जागृत दृश्याराम जो जागृत दृश्य वस्तु है भावानाम जागृत में भाषने और देखने वाले पदार्थ जितने भी हैं शरीर आदि जितने भी हैं सब कम जो मिथ्या है भाव मिथ्या है ये सिद्धि के लिए इतना अनुमान महा दूसरा अनुमान एक अनुमान तो दे चुके हैं और दूसरा अनुमान कहा जा रहे हैं कार्य का है वंदे जयन्नास्ती वर्तमान तथा वितथ सदृशा सतो वितथा लक्षिता आदावंते चन्नास्ति वर्तमाने भी तथा वितथ सदृश सतो वितथा लक्षिता आदौ अंते च नास्ति यद वस्तु आदौ नास्ति अंते भी नास्ति उत्पत्ति से पहले जो न हो और नष्ट के बाद भी जो न हो वर्तमान भी तथा वर्तमान में वस्तु नहीं होता है क्योंकि जब निषेध होता है तो वर्तमान का भी निषेध कर दिया जाता है रस्सी में सर्प उत्पत्ति के पहले नहीं है और नाश होने के बाद भी रस्सी में सर्प नहीं रहता किंतु जिस काल में दिखता था उस काल में सर्प है कहना नहीं होता निषेध होता है तो त्रैकालिक निषेध होता है नाशित न भवत नास्ती न भविष्य ऐसा माना था नहीं उस काल में भी नहीं था अभी भी नहीं है आगे भी नहीं होगा जो तो आदि में न हो उत्पत्ति के पहले जो वस्तु न हो माने उत्पत्ति विनाशशील जितने भी हैं ये सब के सब में ये धर्म लगना है वो वर्तमान में भी नहीं है ये शरीर आदि भी ऐसा ही है जो उत्पत्ति के पहले न हो और नाश के बाद भी नहीं होता हो माने जो उत्पन्नशील पदार्थ नाश के बाद भी नहीं होते हैं उत्पत्ति के पहले भी नहीं होते हैं वो वस्तु वर्तमान में भी जो दिख रहा है नहीं है आभास है मिथ्या है इसी प्रकार आदो अंत्य से नास्ती जो आदि में न हो उत्पत्ति के पूर्व में न हो और अंत्य माने विनाश के बाद न हो वर्तमान भी तथा तद वस्तु वर्तमान भी तथा वर्तमान में भी नहीं है कैसे सिद्ध करेंगे विपथ ही सदृशा संत देखो रज्जु सर्पादि के समान ही है सब बाह्य जगत स्वप्न के समान ही है मिथ्या के समान होते हुए अभितथा इव लक्षिता मूढ़ जो मूर्ख हैं अज्ञानी हैं अभिवेकी हैं उनके लिए वास्तविक दिख रहा है है तो उसी प्रकार जैसे रज्जु में सर्प दिखना सत्य नहीं होता उसी प्रकार आत्मा में जगत दिखना जागृत में भी सत्य नहीं होता ये तथा ही सदृशा संत जो झूठे वस्तु के समान ही है ये कोई भेद नहीं आता विचार दृष्टि से जाने पर एक व्यावहारिक दृष्टि अलग है विचार दृष्टि अलग है वेदांत जो होता है विचार दृष्टि में चलता है और केवल शुष्क विचार भी नहीं श्रुति के आधार पर विचारने की श्रुति इसके पीछे श्रुति है निहनानास्ती की जन श्रुति है क्या श्रुति हाँ। सदैव सौम्य मत आश्रित एकमवादित इत्यादि श्रुति है तो दूसरे वस्तु है ही नहीं एक ही आत्मा है ये सिद्ध करने वाली श्रुति इसके आधार पर एक कारिका लिखी जाती है ऐसा नहीं कि ऐसे जबरदस्त लिख दिया आदव अंत्य नास्ती जो वस्तु यद वस्तु आदव नास्ती अंत्य नास्ती जो उत्पत्ति के पहले नहीं है और नाश के बाद भी नहीं रहेगा ये शरीर को देखना उत्पत्ति के पहले नहीं था आगे भी होने वाला नहीं है बाकी सब ऐसे ही उत्पत्ति नहीं है वर्तमान भी तब तब माने तब वस्तु वर्तमान भी तथा वो नहीं है क्यों ये तथा ही सदृशा संत मिथ्या वस्तु के समान होते हुए स्वप्न के समान होते हुए रज्जु में भाषने वाले सर्पादि के समान होते हुए ये तथा है मिथ्या है उसके समान होते हुए अभी तथा युव लक्षिता मूढ़ जो मूर्ख हैं अविवेकी हैं अज्ञानी हैं जो विचार दृष्टि में नहीं चलते उनके लिए सत्य जैसा होकर दिख रहे हैं लक्षित हो रहे अज्ञानी लोग उसको सत्य समझ रहे हैं किंतु तो है झूठे वस्तु है रज्जु सर्पादि के समान ही है विचार से विचार दृष्टि में देखें तो वैसे ही सिद्ध हो जाए एक नंबर के पद आदो अंत्य अनयोर उत्पत्ति प्राण नाशांतरम इति अर्थ बोलते जो आदो अंत्य शब्द से ना उत्पत्ति के पहले और नाश के अनंतर यह समझ यदि जागृत दृश्या भावा मिथ्यात्व प्रसिद्ध स्वप्नादि भी समत्वा मिथ्या कथम तरी मिथ्या कथम तरी तेषा घट पटासन इति प्रतिग्रस्त इतिहास क्या है पूर्वादि कहता है महाराज शंका करता है यदि जागृत दृश्याभाव जो जागृत में दिखाई पड़ने वाले वस्तु हैं शरीर आदि गृहादि जितने भी मिथ्या प्रसिद्ध मिथ्या होने से प्रसिद्ध स्वप्नादि भी समत्वा क्यों मिथ्या माने मिथ्या रूप से प्रसिद्ध है स्वप्नादि उनको मिथ्या मानते हैं सभी मानते हैं स्वप्नादि पदार्थों को अथवा रज्जु में भाषण वाले सर्पादि को मिथ्या मानते हैं उनका समान यदि समान है जागरूक पदार्थ प्रथम तरी फिर वहां सब सब सब क्यों लगता है घटो अस्थि पटो अस्थि पटो अस्थि ऐसा बोलते हैं अस्थि अस्थि लगता है वहां तो नास्ती नास्ती लगता था रज्जु में सर्प को नास्ती बोलते हैं और यहाँ अस्थि बोलते हैं अगर मिथ्या है यदि जागृत पदार्थ तब कथम तरी दे जागृत भावाना जो जागृति विषय होना फिर ये घटा सम पटा अस्थि अस्थि अस्थि कैसे लगा घट है पट है ऐसा बोलते हैं ना है है ऐसा कैसे बोला जा रहा है यदि नहीं हो तो है शब्द का प्रयोग क्यों होना नास्ति शब्द का प्रयोग होना चाहिए हाँ, सन सन सन बोलते हैं अस धातु से शत्रु करके सन बनाया जाता है भगवान है सन सन माने है विद्यमान सन जाता सन पट इत्यादि बोलते सन यदि अमृषा पेड़ प्रतिथि सत्यत्व रूप से प्रतीति कैसी हो रही है अगर वस्तु नहीं है तो यहाँ घट असम पट असम करके हर वस्तु में सदरूप से प्रतीत हो रहे ज्ञान का विषय बना सदरूप से सत्यत्व रूप से ज्ञान का विषय कैसे बन रहा है ये तुलसीदास तो जी ने कहा यद सत्वाद अमृत से की सकल अमृत यथा यद मंगलाचर में रामायण में जिसके अस्तित्व में ये जो असत के सब जैसे लग रहे हैं जब सत्वाद अमृषा अमृषा में झूठा किंतु अमृषा जैसे लग रहा है झूठ सत्य लग रहा है जिनके होने जन्माया वसगति विश्वमुखम ब्रह्मा देवासुरा इत्यादि तो जिसके अस्तित्व में असत वस्तु की सत जैसा लगता है जब सत्वाद जिद्ध होने पर अमृषा एवं सत्य सत्यम एवं सत्य जैसा राष्ट्र सारा संसार तो ये पूर्वादि की शंका हो गई अगर प्रसिद्ध हेतु है स्वप्नादि को दृष्टांत बनाया हुआ तो मिथ्या है झूठा है उसी प्रकार की जागृत है तो यहाँ संग संग संग क्यों लगता है घटा संघ पटा संघ माने सत्यत्व रूप से प्रतीति क्यों होती है वहां तो असत रूप से प्रतीति हो रही है और यहाँ सदरूप से प्रतीति क्यों होती है ये शंका मुझे इसमें कहा तथा ही सदृशा को अभी तथा लक्षण है तो वो झूठे ही है माने स्वप्न के विषय रज सरकार जो धर्मकालीन क्रांति के विषय है उससे अतिरिक्त ये नहीं है उसी प्रकार है ये होते हुए भी अज्ञानियों के द्वारा सत्यत्व बुद्धि देखे जा रहे हैं तथा युव लक्षिता अभिवेक भी इत्यादि जो अज्ञानी है उनको सत्य बुद्धि में दिखाई पड़ता है है तो वैसा ही है प्रकृति जागृत मिथ्यात्व हेतुअंतर वर्तम श्लोक सूत्र से प्रकृत में प्रकरण चल रहा था आपका जागृत मिथ्या है ये प्रकरण है प्रकरण चल रहा अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना क्या सिद्ध कर रहे हैं प्रकृति यही है जागृत वस्तु मिथ्या है ये घोषित करना है प्रकृति जगत जागृत मिथ्यात् जागृत मिथ्यात्व यहाँ प्रकरण है जागृत में मिथ्या घोषित करना है जागृत वस्तु झूठे नहीं सिद्ध करना है प्रकरण में यत्वंतर परत्व श्लोक से उपनिषद दूसरा हेतु पर कारिका देते हैं उपन्यास करते हैं दूसरे भी हेतु जागृत को मिथ्या घोषित करते हैं दो नंबर रूप में यत्वंतर परत्व मान प्रकृति के ऊपर है यह आरंभ प्रतिपादन है जो आरंभ था उसी का प्रतिपादन कर देंगे दूसरा हेतु भी है ये कहना चाहते हैं इतश्च इत्यादि भाषा ने कहा इतश्च वैतथ्यम जागृत दृश्यानाम व्यवहार इस हेतु से भी वितता है झूठा है असत है जागृत के विषय सब झूठे हैं लेकिन समय हो गया जय करते ओम भद्रम भद्रम पश्येमाक्षदेवता ॐ